सभा सकल सुनि रघुबर बाणि प्रेम पयोधियमिय जनसी शिथिल समाज स्नेह समाधि देख दशा चुप सारद भरत भय परम संतोषो सन्मुख स्वामी विमुख दो दोषो मुख प्रसन्न मन मिटा विसारो भाजन गुंगे ही गिरा प्रसारो श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी सारा समाज शिथिल हो गया सबको प्रेम समाधि लग गई यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली भरत जी को परम संतोष हुआ स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया वे उन्हें छोड़कर भाग गए उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया मानो गुंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो कीन स प्रेम प्रणाम बहोरी बोले पानि पंकरुह जोरे नाथ भय सुख साथ गए को लहे हुलाहु जग जनम भय को अब कृपाल जस आयस होए करौं शीस धर सादर सोई सोयवलंब देव मोहि दे अवधि पारि पावो जहिसे उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले हे नाथ मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया हे कृपालु अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदरपूर्वक करूं परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा तो दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पास जाऊं अवधि को बिता दूं देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाए आन सब तीरथ सल लो तही कह काहर जाए हे देव स्वामी आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ उसके लिए आप क्या आज्ञा देते हैं एक मन माहे सभय सकोच जात कहिनाहि तात प्रभुवाय सुपाये बोले बानि सनेह सुहाई चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन खग मृग सर सरि निर् प्रभु पद अंकित अमन विशेखे आयस हो मम देखे मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता श्री रामचंद्र जी ने कहा हे भाई कहो तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान तीर्थ वन पक्षी पशु तालाब नदी झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं अवश्य अत्रियाय सुशिर धर हो तात विगत भय कानन हो मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता ऋषनायक जहयाय आय राखहु तीरथ जल थल तेहि सुन प्रभु बचन भरत सुख पावा मुनिपद कमल मुदित सिरुनावा श्री रघुनाथ जी बोले अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो हे भाई अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया भरत राम संवाद सुने सकल सुमंगल मूल सुर स्वारथे सराह कुल बरसन सुर तर फूल समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे